कहो कि जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक मानते हो क्या उनमें कोई ऐसा है जो तुम्हें हक का रास्ता दिखाए कहो कि अल्लाह हक का रास्ता दिखाता है अब बताओ कि जो हक का रास्ता दिखाता हो क्या वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसकी बात मानी जाए या वो ज्यादा हकदार है जिसको खुद उस वक्त तक रास्ता ना सूझे जब तक कोई दूसरा उसकी रहनुमाई न करे भला तुम्हें हो क्या क्या है तुम किस तरह की बातें तय कर लेते हो